पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना न कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी इसी के बारे में मैंने एक बार हसरत जयपुरी साहब से पूछा था तो वो बोले आशिकाना रंग की धुने जितनी भी बना बनाई और बनाते रहे वो थे जय किशन साहब और फलसफा ढंग के रंग में तो क्लासिकल ढंग के रंग वो थे हमारे शंकर जी तो बहनों भाइयों आप ही सोचकर अब बताइए कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर की धुन शंकर और जयकिशन में से किसकी थी और साल के टॉप गीत नंबर वन की धुन किसने बनाई होगी मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा मत कहिए ना क्योंकि भाई हमें तो अभी गीत माला की छाव में के कई और वॉल्यूम्स में मिलते रहना है इनशाला तो चलिए जरा फिर से सोच कर बताइए कि दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है प्यार मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं क्या क्यों सताते हो हाँ ये हुई ना बात ऐसा प्यार भरा संगम अगर सबका होता रहे सब देश भी आपस में मिलते रहें जैसे श्रीलंका से भारत भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह तो धीरे धीरे सारी दुनिया में अमन शांति सुख और खुशहाली फैल सकती है तभी तो बहनों भाइयों जब 2010 यानी 2010 का साल सन 2011 में ढला ना तो मैंने अपने सभी साथियों को न्यू ईयर का जो संदेश भेजा था वो आज आपको भी पेश करता हूँ सुनिए कि बहनों और भाइयों तोड़ो नहीं जोड़ो लड़ो नहीं मिलो जय हिंद जय एशिया जय दुनिया जय जय जय जय हो बहनों और भाइयों नमस्ते आदाब गीत मारे की छाव में शुरू होने वाला है उन्नीस सौ पैंसठ नाइनटीन के अमर संगीत का सफर और इसमें दो हंगामे और भी हैं जी हाँ और भी हंगामे यानी उस जमाने का एक हंगामा तो पिछले वॉल्यूम में था कि जब मैं दूसरी बार रेडियो सिलोन कोलंबो गया 1964 के आखिर में तो मेरे साथ क्या क्या गड़बड़े हुई खैर वो गड़बड़े तो हो गई खत्म जब गोपाल शर्मा भी तंदुरुस्त होकर कोलंबो लौट आए और उन्होंने शिव कुमार सरोज के साथ फिर से रेडियो सिलोन की हिंदी सर्विस का काम संभाल लिया और मैं बेचारा अपनी मुंबई नगरी को चल पड़ा मुझे गीतमाला देने वाले रेडियो स्टेशन के लिए मन ही मन ये गीत गाता हुआ तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे चले प्यार ये नजराना उन्नीस की वार्षिक संगीत छिड़ी की बत्तीसवीं पादान पर था और उस साल के गीत नंबर 31 की फिल्म वो थी जिससे लाजवाब डायरेक्टर यश चोपड़ा ने बड़े जोरों शोर के साथ अपनी काबिलियत का बड़ा जबरदस्त झंडा गाड़ लिया था यानी वक्त मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाहों लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा प्यारे प्यारे गीत थे उस साल की एन्यूल गीतमाला हिट परेड में मगर शायद उनसे भी ज्यादा अच्छे कई गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाए जैसे याद है बैनर भाई आपको फिल्म चित्रलेखा के ये सारे गीत गए बादल गगन और बेहतरीन गीत भी उस फिल्म के रह गए थे गुमनामी की छाव में जिनमें से एक था मेरा बड़ा ही फेवरेट गाना जो मुझे जीवन के हर दुख भरे मोड़ पर याद आ जाता है और जिससे आज शुरू होगा छाओ के गीतों का सिलसिला रोशन की धुन और शहर के शब्दों के सहारे मन रे तू का है ना धीरे धरे सपना ये सपना बिथरा कक्षाओं में और जनता के पसंद ने चित्रलेखा के जिस एक जरा सीधे सादे से गीत को उछालकर साल की पायदान नंबर तीस पर पहुंचा दिया था वो था ये लागे मनवा के बीच कटार के मारा गया के मारा गया ब्रह्मचारी जुल्मी कैसे जुलमी बनाई सैन नारी के मारा गया के मारा गया ब्रह्मचारी अजी मारा तो असल में मैं गया था उन दिनों जब गीत माला के स्पॉन्सर्स के दफ्तर में कुछ बड़े गुणी सीनियर संगीतकारों के डेलीगेशन ने धावा बोल दिया ये कहते हुए कि गीत वाला के हिट गीतों का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल गलत होता है आजकल गीतमाला में सिर्फ कुछ नए म्यूजिक डायरेक्टर्स छा रहे हैं हम जैसे सीनियर संगीतकारों के गीत बहुत कम बजने लगे हैं और हम लोगों की लाजवाब धुनों के साथ नाइंसाफी हो रही है इसलिए हमारी ये डिमांड है कि गीतमाला रेडियो प्रोग्राम को फौरन बंद कर दिया जाए बहनों और भाइयों जाहिर है मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और बहुत धक्का लगा मुझे कि भाई हम कभी ये तो नहीं कहते कि गीतमाला में हिट होने वाले गीत ही सबसे अच्छे गीत हैं हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम इस डेमोक्रेसी में सिर्फ अच्छी तरह बड़ी बारीकी से बड़ी ईमानदारी से पता लगाकर गीतमाला में बताएं कि जनता के दिलों में कौन से गीत सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं बहरहाल मैंने बड़ी इज्जत बड़े आदर से गीतमाला के गीतों के सिलेक्शन प्रोसेस की तमाम फाइलें उन गुरुजनों के सामने रख दी रिकॉर्डों की बिक्री की रिपोर्टें भी और श्रोता संघों यानी रेडियो क्लब्स की फाइलें भी और कहा ये लीजिए सज्जनों आप खुद ही इन ढेर सारी लिस्टों को बड़ी बारीकी से जांच लीजिए और बहनों और भाइयों जब तक वो सीनियर संगीतकार गीत वाले के पॉपुलर रेटिंग्स की रिपोर्ट जांच रहे हैं ना हम उस साल के छाव वाले गीतों की कहानी आगे बढ़ाएं जागो सोने वालों सुनो मेरी कहानी मगर एक मिनट भाई अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी थी तो जरा हरमंदर सिंह हमराज के मशहूर हिंदी फिल्म गीत कोश में फिल्म की स्टार कास्ट के नाम देख लें तो उसमें आप सबसे आखिरी छोटा सा नाम मेरा भी पाएंगे जागो सोने टूटा जवार दिला वॻा हिकु बदनदी हसने لگے बहनों भाइयों उन सीनियर संगीतकारों ने हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के सारे कागजात बहुत अच्छी तरह जांचे मैंने उन्हें ये भी समझाया कि गुरुजनों गीत माना तो सिर्फ जनता की पसंद का आईना है और पसंद के पॉपुलैरिटी के कई कारण हो सकते हैं और फिर जमाना बदलता भी तो रहता है आप शानदार लोग जब आए थे तो आपने भी कई पुराने लोगों को पीछे छोड़ दिया था आज कुछ नए संगीतकार जोरों में उभर रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा संगीत दे रहे हैं तो आखिर मान गए वो सब सुरीले सीनियर्स और कहा कि हाँ भाई आपका काम तो बिल्कुल सही है मगर हमारे लिए भी तो कुछ जरूर कीजिए आज के इस वॉल्यूम में सन 1965 की एक और बड़ी खास बात होने वाली है जिसका नाता आकर हमारी गीतमाला की छाओ में से भी जुड़ गया मगर पहले उस डेलीगेशन से होने वाले टेंशन को दूर करने के लिए आइए बहनों भाइयों उस साल की छाओ की बहारों में एक और महबूब का स्वागत करें बहारो हम दो दिल मेरा महबूब आता ಯಾರೋ पायदान नंबर उन्तीस पर था फिल्म बहु बेटी का गीत जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है जियो तो ऐसे जियो और नंबर 28 पर था गीत फिल्म बॉक्सर का जिसके बॉक्सर बने थे असली बलवान पहलवान स्टार दारा सिंह और हीरोइन थी नेचुरली ब्यूटीफुल मुमताज़ ये नेचुरली मैंने इसलिए कहा बहनों भाइयों क्योंकि सन तिरसठ से लेकर छियासठ तक करीब चौदह फिल्मों में दारा सिंह और मुमताज की जोड़ी लगातार जमी और लोग सोचने लगे कि हाँ ये क्या चक्कर है भाई <laughs> खर बाद में पता लग गया कि मुमताज की बहन फिल्म स्टार मल्लिका दारा सिंह साहब के भाई पहलवान सितारे रंधावा की बीवी थीं और इसीलिए दारा साहब ने बहुत बढ़ावा दिया था मुमताज को उनके फिल्म करियर में बहरहाल सुनिए झलक फिल्म बॉक्सर के सुरीले गीत की खुदाया, खुदाया। और शशि कपूर की जोड़ी दोनों बड़े प्यारे इंसान थे अब भी हैं मगर भोली भाली नंदा की खूब टांग खिंचाई किया करते थे शरारती शशि कपूर कैसे ये शशि साहब से खुद सुन लीजिए आप शूटिंग के दौरान शॉट लेते समय तो नंदा बड़ी लगन से बड़े प्यार से काम करती हैं लेकिन शॉट खत्म होते ही बाप रे बाप ना बात करेंगी ना मजाक ना हंसेंगी ना खाना खिलाएंगी पराए मर्दों को दस गज दूर रखना उनकी सबसे बड़ी आदत है <laughs> चाहे वो मर्द उनका जाना पहचाना हीरो ही क्यों ना हो यानी वो आपसे भी खुल मिलकर बात नहीं करती कोशिश तो करती है कि ना करें लेकिन मैं उन्हें थोड़ी छोड़ता हूँ उन्हें छेड़ छेड़ कर उनके नाक में दम कर देता हूँ मगर फिर भाई जो ही शूटिंग शुरू होती है शुरू हो जाता है रोमांस सिलसिले के संगीतकार कौन थे याद है ना आपको बहनों भाइयों हाँ, तो उन्हीं की शान में 1965 में बॉलीवुड बम्बई में रचा गया था वो शानदार झिलमिलाता हुआ फंक्शन जिसका हाल और जिसकी अनमोल रिकॉर्डिंग्स आज का यादगार हिस्सा होगा सुनने के लिए हो जाइए तैयार उस जलसे की कंपेयरिंग बहनों भाइयों मैंने ही की थी लेकिन मैं आपको अपनी नहीं बल्कि तीन फैंटेस्टिक फिल्मी हस्तियों की आवाजें सुनवाऊंगा शुरू करता हूं उनसे जो उस साल सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे फिल्मी दुनिया के महान सीनियर संगीतकार सी रामचंद्र संगीत के शौकीन दोस्तों सरगम से खेलने वाले मेरे प्यारे म्यूजिशियंस भाई मेरे प्रिय कलाकार भाई और हमारे सबके आदरणीय पृथ्वीराज जी हाँ भाई फिल्मी अदाकारों के भीष्म पितामा पृथ्वीराज कपूर साहब भी तो थे उस फंक्शन में और बड़े अच्छे बड़े मजाइया बड़े मजेदार मूड में थे रोशनी का कर्तव्य है वो अंधेरे को खोजती है ताकि वहां उजाला कर दे इसीलिए इन्होंने मुझे चुना कि जो कम से कम संगीत जानने वाला हो उसको लाए ताकि उसमें रोशनी आए ताकि वो किसी दिन वो भी संगीत में कुछ जान सके मेरे लिए ये बड़े गर्व और गौरव की बात कि इस अवसर पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आके इन संगीत अज्ञों इन संगीत के पुजारियों इन संगीत के प्रेमियों में आके बैठ सकूं नहीं तो मैं अगर गाना शुरू करूं धोबी लठ लेके चले आते समय तो हमारा गला भाग गया खैर हंसी मजाक एक तरफ बनो रही हो नाइनटीन का वो शानदार जलसा फिल्मी संगीतकारों की संस्था सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से रचा गया था और उस फंक्शन में सब बड़े बड़े मूसीकार पहली बार मिलकर देने वाले थे साल का बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड पहली ये बात है कि बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा कि ये अवार्ड स्टार्ट करने की जरूरत क्यों थी हमारे सब म्यूजिक डायरेक्टर्स भाई ने एक होके कहा कि यही टाइम है कि ये इस टाइप का अवार्ड स्टार्ट करना चाहिए नहीं तो दूसरा टाइम नहीं आएगा बस अभी आगे बढ़ाता हूँ उस रंगीन फंक्शन का हाल पहले 1965 के कुछ और हिट गीतों की झड़कें हो जाएं नंबर 26 पर थी हसीनाओं के लिए वार्निंग तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा

इस गीत की फिल्म आओ प्यार करें की हीरोइन तो थी सारा बानो मगर इसकी संगीत निर्देशिका उषा खन्ना भी उन दिनों काफी अट्रैक्टिव और चुलबुली हुआ करती थी इसलिए ये गीत उन पर भी लागू हो सकता था जी हाँ बहरहाल अगली पायदान पर यानी पायदान नंबर 25 पर बजी थी एक और बड़े गुणी संगीतकार की धुन फिल्म थी गंगा की लहरें जिसमें धर्मेंद्र और कुमकुम के साथ किशोर कुमार भी थे जिनकी कॉमेडी के बारे में कुमकुम जी ने एक बार मुझे बताया था हाँ बाप रे बाप वो कॉमेडी थी हम्म, हम्म। उसमें किशोरदा के साथ में काम किया था हम्म। कॉमेडी की तो नहीं कॉमेडी करने की कोशिश की क्योंकि किशोरदा के साथ कॉमेडी करना <laughs> मजाक नहीं है खैर बहनों भाइयों फिलहाल आप जरा सीरियस होकर सुन लीजिए उस हिट गीत नंबर 25 की झलक मचलती हुई हम सम सम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें मचलती हुई हवा में सम सम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें जमाने से नहीं हमारे संग संग बहनों भाइयों यहाँ तो मुझे पूरा पूरा बजाना ही पड़ेगा उस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गाना प्यारा गाना